हुआ परोक्ष ज्ञान है ना वो परोक्ष ज्ञान क्या शब्दों का जाल वो शब्द जाल को लेकर उनको कहीं ना कहीं वो भी फंसते ही रहते हैं बार बार परेशान होते हैं महात्मा आते हैं अपने पास बार बार यही कहते महाराज समझ में नहीं आता ये अनादिकाल माया ने हमें बंधन में कैसे डाल दिया था ऐसा क्या गारंटी है अब हम माया का मान लो ब्रह्म विद्या से उच्छेद कर भी लिए या उच्छेद हो जाए भविष्य में लेकिन दोबारा ये माया आत्मा को अटैक नहीं करेगी इसमें क्या गारंटी बड़ा मुश्किल है उन्हें क्या समझाया अब उन्होंने ये मान के बैठे है ना कि माया ना कोई स्वतंत्र वस्तु है और वो आत्मा को पकड़ लिया था कभी अनादिकाल में अब दोबारा वो आकर के पकड़ सकती मैंने वो आत्मा से भिन्न स्वतंत्र को माया तत्व को मान रहा है सारा वेदांत क्या पड़ा फिर समझ में नहीं आया हमें ये नहीं समझ में आया तुमने वेदांत पढ़ाई क्या कर यदि अलग कोई स्वतंत्र वस्तु हो तब ना वो लौटेगा फिर फिर बंधन में डालेगा अब इस तरह के अनेक आते हैं इस प्रकार के लोग जो वेदांत पढ़े हैं और वेदांत की तरह बढ़िया प्रवचन करते हैं मुंबई वगैरह सब जगह उनका फेमस है नाम है और हजार हजार इकट्ठे के सुनते हैं बहुत बढ़िया बोलते हैं लेकिन हमारे पास आते हैं तो यही सब प्रश्न रखते हैं क्या करते एक बार का चले मान लिया माया मिथ्या है लेने कहते हैं कि उसकी मिथ्यात्व तो हमने मानो निश्चय भी कर लिया मिथ्याभूत तो माया दोबारा सक्रिय नहीं होगी सूचा प्रमाण मिथ्या ही मान के चले मिथ्या में सक्रिय हुई थी ना कभी फिर दोबारा नहीं होगी किस क्या प्रमाण यानी कि इसने कहा कहा गया है कि मिथ्या माया सक्रिय हुई थी बार बार आचार्य शंकर का भाई जिसको दिखाई दे रहा है उसके लिए अध्यारोप और अपवाद पद्धति से हम समझा रहे हैं सारी श्रुतियां समझा रही है जिसको दिखाई नहीं दे रहा है उसके लिए तो हरी न कभी थी न होगी कभी न वर्तमान में सक्रिय है जिसको दिखाई दे रहा है उसके लिए है सक्रिय वास्तव में तो है नहीं जो वास्तव में है तब तो तीनों कालों में नहीं है वो भविष्य में कैसे आ जाएगी दोबारा अब इस तरह की बातें संशय जब तब तक बनी रहेगी इसलिए आमरणार्थ था मरण पर्यंत लगातार लगा हुआ रहता है गंगा स्रोत के समान निरंतर अंदर कुड़कुड़ाते रहेगा छोड़ेगा नहीं वह जो संशय धारा चली थी विच्छेद मायांती वह भी नष्ट हो जाता है विज्ञान उत्पत्ति के साथ साथ प्रवृत्ता प्रवृत्ता एवं दिन निवृत्ता भवंती भाव जो अभी तक प्रवृत्त थे वो निवृत्त हो जाते हैं अवश्य विच्छिन्न संशय से निवृत्त विद्य जिसका संशय निवृत्त हो गया और अविद्या भी निवृत्त हो गई ज्ञान विज्ञान उत्पत्ति प्राप्त जन्मांतर च अप्रवृत्त फला ज्ञान उत्पत्ति स्वभावी नीच क्षीयते विज्ञानोत्पत्ति के पूर्व काल पर्यंत जन्मांतरादियों में जो अप्रवृत था वह समस्त संचित कर्म और ज्ञानोत्पत्ति काल पर्यंत ज्ञानोत्पत्ति के सहित उपस्थित जितने भी इस जन्म किए गए क्रियामान कर्म वे सारे के सारे चीज क्या है नानो ये तो जन्म आरंभ कहानी प्रवृत्त फल था इस जन्म के इस शरीर के जो आरंभक है प्रारब्ध कर्म वो नष्ट नहीं होंगे क्यों वो प्रवृत्त फल वाले हैं फल देने के लिए शुरू कर चुके हैं अब इसलिए उनका नाश नहीं हो सकता शिवतेश दृष्टांत दिया जाता है इसमें छूटा हुआ बाण के समान है बाण तीन प्रकार का है एक बाण वो है जो तर्कस में पड़ा हुआ है दूसरे बाण वह है जो धनुष पर चढ़ा हुआ है और तीसरा वो है जिसको आपने छोड़ दिया छूटने के पश्चात आपको यह बोध हो गया कि आगे में वहां गाय है तो छोटा हुआ बाढ़ को आप रोक सकेंगे उसकी दिशा को बदल सकेंगे नहीं वो तो लक्ष्य तक जाएगा ही लेकिन जब दूसरा छोड़ने के लिए तैयार था जो ध्वज पर चढ़ा हुआ उसको तो आप रोक सकते हैं क्योंकि अभी आपके हाथ में है और जो तर्कस में है उन्हें भी आप नहीं छोड़ेंगे वो भी आपके अंतर में इसी तरह से यहां पर भी संचित कर्म जो तर्कस में पड़े हुए भविष्य में कभी न कभी फल देने को उन्मुख होंगे वो एक वो है जो अभी फल देने को अगला जन्म के लिए देने के लिए तैयार हो रहे हैं जो धनुष पर चढ़ा हुआ है ये दोनों तो नष्ट हो जाएंगे लेकिन जो आगे है वे छोड़ चुका है फल की ओर अभिमुख है उसको तो कोई रोक या बदल नहीं सकता इसलिए कहते कि देखो तस्वीर सर्वज्ञ असंसारिणी परावरे परंच कारण बना आवरंच कार्यात्मा तस्वीन बरावरे प्रवृत्त फल वालन से तो होंगे और फिर वह सर्वज्ञ जो संसारिणी परावरे तस्मिन सर्वज्ञ संसारी सर्वज्ञ जो इस संसार में रहने वाला तो वह संसार में रहते हुए ही परावरे परमने जो कारण रूपेण ब्रह्म अवर मने कार्य रूपेण ब्रह्म और कार्य कारणात्मक स्वरूप होता इन दोनों की कल्पना का अधिष्ठान शुद्ध आत्मा का जब अनुभव करता है तस्वीन तो बराबर साक्षात अहम अस्मी दृष्ट साक्षात अमेर तद ब्रह्म अस्मी ऐसा जब वो दृष्ट अनुभव करता है संसार कारोच्छेदात मुख्य से वह संसार का कारण से ही का उच्छेद हो जाने कारण से वह सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है श्रेयमाणानी एवं गृहियाणी ग्राह्याणी नीचे टिप्पणकार कहते विज्ञान उत्पत्ति काल तद्भाव असंभव क्योंकि विज्ञान उत्पत्ति काल में कोई कारण तो होता ही नहीं है इसलिए ज्ञान सहभावी क्यों कहा भाष्यकार ने तब कहते इसलिए ज्ञानोत्पत्ति सहभाव नित्य क्रियमाणान एवं ग्राह्याणी तेन जो उपलक्षण विधेया आगामी आगामी उसके बाद प्रार्थ कर्म वशात विद्यमान शरीर के अंदर जो भी भविष्य में होने वाले कर्म है वे भी कर्म सब उसके लिए तो नष्ट ही है हिरणमय परे कोशे विरजम ब्रह्म निष्कलम तुभ्रम ज्योतिषा ज्योतिष तद्यदात विदो विदो उसी अर्थ को ही संक्षेप से कहने के लिए अगला मंत्र और आरंभ करते तीन मंत्र क्योंकि ये श्लोक में अति संक्षेप का हुआ बात था उसी को अब विस्तार किया जा रहा है तीन मंत्रों के तरह विस्तार से समझाएंगे बीज रूपे न कहा हुआ है विद्युत ग्रंथि इत्यादि से उसको आगे तीन मंत्रों के तरह विस्तार करेंगे उक्त सेवार्थ विधायिका उत्तरे मंत्रात्रोपी संक्षेप से कथन करने वाली जो बात है उसी को उक्त अर्थों को ही दोबारा आगे के तीन मंत्रों के द्वारा स्पष्ट करेंगे यदि भी मंत्र और संक्षेप हो जाता है मंत्र क्या है और भी संक्षेप हो जाता है ब्राह्मण तो विस्तार होता है लेकिन यहां पर मंत्र पर मंत्र है क्योंकि पूरा मंडप उपनिषद मंत्र भाग का है इसलिए एक मंत्र भाग में मंत्र भाग में कथित तो एक तत्व को समझाने के लिए दूसरे मंत्र भाग का दूसरा मंत्र को लेकर के संबंधित किया जाता है इसे दोनों ही संक्षेपी है लेकिन वो एक मंत्र से तीन मंत्र हो गए अन्यत्र से तीन मंत्र उदृत कर लिया तो इस कारण से उसका एक तरह से व्याख्या हो हिरणमय परे कोश है कहते हैं कि भाई ये हिरणमय पर कोश कौन सा है बुद्धि वृत्ति के प्रकाश में जो परम कोश है वह विशुद्ध विरजम विशुद्धम कलाओं से रहित तो, निष्कल ब्रह्म ब्रह्म है ब्रह्म तत्व विद्यमान है प्रकाश में बुद्धिवृत्त्यात्मक जो प्रकाश में हिरण में इसलिए हिरण में न प्रकाश में कोश युव कोश परम कोश है ये परे कोश है क्योंकि जो है इस कोश में कोई अंत ही नहीं कभी खत्म नहीं होता कभी बुद्धि की वृद्धिया खत्म हुई अनाधिकार से चले आई हुई है और अभी तक चल ही रही है और आगे भी यावत अविद्या तावत पर चलती रहेगी और यदि जीवन मुक्त तो यावत शरीर तावत पर चलती ही रहेगी इसे इसको कह दिया परे कोश उसमें वह विशुद्ध कलांश रहित ब्रह्म तत्व जमार है प्रतिबोध वीदम अधम किन प्रसाद पर पड़ा है बोधम बोधम प्रतीयत वीतम भक्तदेव प्रतिबोध वीतम ब्रह्म प्रत्येक बोध के साथ सामान्य आकार से व्याप्त होकर के सकल वृत्तियों में प्रकाशित प्रकाश रूप है वो तेव सदा प्रकाशित है वो वह तुभ्रम वह विशुद्ध है विरजम भी कहते हैं क्षुभ्रम भी कह दिया इसीलिए ज्योतिषाम भी विशुभ्र विरजम से विशुद्ध हो ही गया वह कलाओं के कारण से शुद्धियों को निकल करके निष्कल विशुद्धता पहले ज्योतियों के अभी ज्योति स्वरूप अत्यंत विशुद्धता है दोस्तों ज्योतिषाम ज्योतिष तच्छुभ्रम संपूर्ण ज्योतिर्मय पदार्थों के अंदर विद्यमान वह ज्योतियों का विशुद्ध स्वरूप वह परमात्मा का स्वरूप शुद्ध ब्रह्म है तद्यदात्त विदो विदो वह यही तत्व जिसको आत्मज्ञानी पुरुष लोग हृदय में साक्षात्कार कर लेते हैं तो यही तत्व समझो किरणमय ज्योतिर्मय प्रकाशमय बुद्धि विज्ञान प्रकाश है बुद्धि वृत्ति कृत अवध्य आज आकाश में जो प्रकाश है बोले परे कोश है कोश ही वासे है जैसे तलवार का कोश होता है म्यान म्यान होता है तलवार का जो म्यान होता है उसी के समान यह भी कोश के समान कोश है वृत्तियों का आत्मस्वरूप उपलब्धि स्थान क्यों आत्मस्वरूप की उपलब्धि का वह स्थान है क्या असी उपलब्धि स्थान कोश जैसे असी तलवार की उपलब्धि का स्थान कौन सा है ज्ञान है उसी प्रकार से इस आत्मानु आत्मानुभूति की उपलब्धि का स्थान कौन होगा हारदाकाश है इसलिए इस हारदाकाश जो मृत्युमय है उसको कह दिया कोश है तो सर्वाभ्यंतर और हेतु है क्योंकि सर्वाभ्यंतर भी है और तो पर परे क्यों परम क्यों है क्योंकि सर्वाभ्यंतर उसके भी आभ्यंतर कुछ नहीं हार्दाकाश ये भी आभ्यंतर उससे भी सूक्ष्म कोई और चीज नहीं कारण अधिष्ठान ही है फिर भ्रम ही है इसलिए समस्त बाह्य कार्यों की अपेक्षा से आभ्यंतर है वो तस्मिन विरजम अविद्या आदि अशेष दोष रजो बल वर्जितम तस्मिन उस पर कोश में हार्दाकाश में जब अनुभूति हो जाती है तो अविद्या आदि से जन्य जो अशेष दोष रूपा जो रज है अर्थात मन है उससे रहित हो जाता है ब्रह्मो सर्व महत्व सर्वात्मता क्योंकि सभी में महान है वो और सभी का आत्मा है वो दोनों अर्थ घट सकता है महत्व भी ले लिया और जो है आत्मत्व भी ले लिया अच्छो क्योंकि सर्वरूपत्व सर्व सर्वम पश्य पहले कह चुके हैं ना सर्वासन सर्वम पश्य सर्वरूप ही है वो अतएव वो कैसा है जो सर्व महत्व वाला है निष्कलम निर्गत कला यस्मात निष्कलम निरवय निर्गत है निकल चुका है यह अविद्यमान है कला है जिसमें उस तत्व का नाम ब्रह्म है तो निष्कलम निरवयम किसी भी प्रकार के अवयव अवयवी भाव असिद्ध यहाँ शंका तो होगा भाई अपने का एक अस्मात प्राण हो जाए इत्यादि तो का है वो स्वभाव है उसे उत्पन्न है कहते नहीं नहीं वास्तव में वो निष्कल है यस्मात विरजम निष्कलम छह शुक्र जिसलिए विरज है और निष्कल है इसलिए वो शुक्र है शुद्ध शुद्ध होने के कारण ज्योतिषाम सर्व प्रकाशात्म नाम अग्नि आदि नाम अभी ज्योति ही अवभाषकम जो सूर्य आदि है ना अग्नि सूर्य चंद्रमा आदि जितने भी ज्योतिर्मय पदार्थ माने जाते हैं सर्व प्रकाश प्रकाश स्वरूप जिसको माने जा रहे हैं उन सबका भी वह प्रकाश है उन सबका भी अवभाषक है अग्नि आदि नाम अभी ज्योतिष अंतर्गत ब्रह्मात्म चेतन ज्योतिर निमित्त क्योंकि अग्नि आदियों में जो जो ज्योतिर्मय पदार्थ का व्यवहार हो रहा है वो इसलिए क्यों अग्नियों के भीतर में अंतर्गत विद्यमान जो ब्रह्मात्म चैतन्य रूपा ज्योति है तन निमित्तक ही अग्नि आदि में ज्योतिष का व्यवहार होता है तथ्य ही परम ज्योति ही इसलिए वो परम ज्योति ये कृष्ण की वेदा परमकन ज्योति तदस्मित प्रभव आया ना मान सभानुमान में श्लोक में अंत में ये कहता है तत्परम ज्योति ही तदस तो परम ज्योति है परम ज्योति यद अन्यान अवभाष्यम आत्म ज्योति वही पर ज्योति मानी जा सकती है जो अन्य समस्त को भाषित करने वाला हो और वह कार है वास्तव ज्योति है विधा आत्मा स्वम शब्दादिशक्ति प्रत्यय साक्षिणम ये विवेक लो विदो आत्मता है आत्मता मतलब क्या अपने आत्मा को आत्म स्व इन्हें की पोती में पढ़ा हुआ आत्मा को जान लिया आत्मा जानने लायक चीज ही नहीं है तो स्वयं है तो उसको कैसे जानोगे आप पढ़ के जान लिए तो आप जाना ही नहीं उसको हाँ शब्दार्थ जान लिए अनुभूति होने के बाद ये नहीं कहेगा मैंने आत्मा को जान लिया नौन वेदे थी मतम तस् मतम अश्या मतम तस् कहा स्पष्ट तो इसलिए कहते हैं आत्म ने स्वमेव वो भी कहेगा शब्दाद विषय बुद्धि प्रत्येक साक्षी के रूप में अनुभव शब्दादि विषय बुद्धि प्रत्य साक्षरम ये विवेकी कौन जानेगा ऐसे जो विवेकी लोग है वे ही भी जानते आत्मविदा वे उन्हें कहा जाता है आत्मविदा तद विदु आत्म प्रत्यनुसारिण आत्मा के अनुसंधान आत्म प्रत्यय का ही अनुसारी मैंने अनुसंधान करने वाले जो लोग विवेकी लोग है वही लोग इस बात को अनुभव करते हैं समझते हैं यस्मा परम ज्योति कस्मात तद्विदो जिसलिए वह परम ज्योति है इसलिए वे लोग उस चीज को समझ पाते हैं उसी प्रकार से जैसे अरुंधति नक्षत्र को देखने के लिए भी सूक्ष्म दृष्टि चाहिए बड़े तरीके से शाखा चंद्र न्याय विधि दर्शन न्याय सब इसलिए कहा था तो द्वितीय की जो चंद्रमा है वो कुछ क्षणों के लिए होता है उसके अंदर आपको देखना है उगा ढूंढ ढूंढते फिर होगा आकाश में दिखता ही नहीं आप देखते ढूंढते रहेंगे इतने में घर तो जिस प्रकार से शाखा आदि के माध्यम से उसको दिखाया जाता है उसी प्रकार यहाँ पर भी विवाह के पश्चात पति पत्नी को अरुण के नक्षत्र दिखाया जाता है रात्रि कैसे दिखाएंगे वो और यही रास्ता उनको अपनाना पड़ता है वो देखो बढ़ा नक्षत्र दिख रहा है मेरी अंगुली के ठीक सामने देखो बोलेगा पीछे खड़ा तो अंगुली के आधार से देखेंगे बड़ा नक्षत्र को वो बड़ा नक्षत्र इधर देखो एक छोटा सा दिख रहा है हाँ दिखता है उसका पीछे छोटा सा देखो वो बड़ा गौर से देखेंगे हाँ हाँ दिखा दिखा बस उसी का नाम अरुण तो जिस प्रकार से वहां तक पहुंचाया जाता है उसी प्रकार उस परम ज्योति पर जाने के लिए हमें बुद्धि वृत्तियों का हाथ कर लेना पड़ेगा नहीं तो हृदय हार्द आकाश में विद्यमान सर्वत्र व्यापक होता हुई हृदय में विशेष रूप में अनुपलब्धि का जो संभावना है वह तभी है जब हम इन बुद्धि वृत्तियों के सहारे हम उस सामान्य प्रकाश जिस जिसके कारण से बुद्धि समस्त वस्तुओं को प्रकाशित जिस प्रकाश को लेकर के यह बुद्धि प्रतिबिंबात्मक प्रकाश के माध्यम से सारा जगत को प्रकाशित कर रिफ्लेक्शन है ना सूर्य की रश्मि का एक किरण को जैसे आप इधर फेंक देते हो और उससे सब ढूंढ लेते हो चीज को उसी प्रकार से वहां पर भी है इसलिए यदि यसमात परम ज्योति ही जिसलिए समस्त ज्योतिर्मय पदार्थों से भी परम ज्योति है तस्मात्ता एवं तद विदु तो इसलिए विवेक ही उसे जान पाते हैं न इतरे बाहर प्रत्यार सारण जो बाहर के अनुसंधान करने वाले लोग हैं बाहर में आत्मा को ढूंढ रहे हैं बाहर के विषय में आसक्त होकर के जो है लगे हुए हैं ऐसे लोग कभी उस आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते न तत्र सूर्यो भात न चंद्र तारकम नेमा विदितो भांति कुतो यमग्नि तमेव मनु भाति सर्व तस्य भाषा विभाति आपने कहा उस आत्मा को ज्योतिषाम ज्योति खत्म ज्योतिषाम ज्योतिर्जुत है उस आत्मा को आप ज्योतियों का भी ज्योति है ज्योतिर्मय पदार्थों का भी वह ज्योति है न प्रकाशमय पदार्थ जिसको माना जा रहा है वास्तव में प्रकाशमय का भी प्रकाश स्वरूप कारणीभूता प्रकाश हुई है ये आपने कैसे कह दिया क्योंकि न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम क्योंकि आप हजार सूर्यों के द्वारा भी आप उस आत्मा को देख नहीं सकते आत्मा को प्रकाश नहीं कर सकते क्योंकि जो है युगा पर होती था कहा है ना गीता जी में एक हजार सूर्य में एक काला चंद्र उग जाए वह प्रकाश दिव्य होगा उससे भी दिव्य है कि उस दिव्य प्रकाश का भी कारणीभूत इसलिए कहते यहाँ पर सूर्य वहाँ पहुंच नहीं सकता अर्थात सूर्य के प्रकाश से वह आत्मा प्रकाश आत्मा को आप प्रकाशित नहीं कर सकता ऐसा वह आत्म स्वरूपता जो ब्रह्म तत्व है वह ऐसा वृक्षण तत्व है सबको प्रकाशित करने वाला होने के कारण से वह सूर्य भी उसे प्रकाशित नहीं कर सकता चंद्र ताराओं को कहने की क्या जरूरत है नईमा विजित भांति कुथो यमग्नि ही ये जो भयंकर बिजली चमक दी है वह भी जब उसे प्रकाशित नहीं कर सक्षण भर के लिए भी तो ये अग्नि टिटमिटाने वाली है क्या करेगी बेचारी है क्यों क्योंकि तमेव भांत मरुभा सर्वम उसके प्रकाश का प्रकाशित हुए जाने पर ही अन्य सभी प्रकाश के द्वारा अन्य वस्तुओं को प्रकाशित करने में समर्थ होते हैं तस्य भाषा उसी प्रकाश के माध्यम से सर्विदम विभाति ये सूर्य आदि भी वास्तव में प्रकाशित होते हैं यदि वो प्रकाशित रहा मुर्दे को क्या मालूम ये सूर्य है ये चंद्रमा है मुझे दिन में ले जा रहे हैं कि रात में ले जा रहे हैं क्या मुर्दे को समझ में आएगा जब जाए तब ले जाओ जा तब आप फेंक दो या फेंक दो मुर्दा क्या कर लेगा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि जिस विशिष्ट आत्म चैतन्य को बुद्धि में अनुभव करता हुआ वह सारा चीज को ग्रहण कर रहा था अब वो नहीं रह गया उस मुर्दा के अंदर इसी कारण से वो नहीं जान पाता है इसे ज्ञापन होता है जब आत्म तो चेतन के प्रति में विशिष्ट जो बुद्धि विद्यमान नहीं है तब तो से जगत का कोई भी वस्तु प्रकाशित नहीं कर सकते सूर्य आदि है ये भी हम नहीं कर सकते सोते रहते तो खराटे मार के दिन दाड़े से ज्ञापन में दिन में सो रहा रात में सो रहा खराटे तो में पहुंच गया है वैसे बैठे बैठे सो जाते लोग ये भी बता नहीं होने पर हमें कहीं सोने का जगह नहीं है बाद में चिल्लाते फिरेंगे जब जेब कत रहे जेब काट लिए अरे सोया क्यों तो कहने के तत्पर हुआ ना कि भाई जब तक हमारे अंदर उस बुद्धि के माध्यम से आत्म तो प्रकाश के द्वारा ही हम इस जगत को नहीं प्रकाशित करेंगे तब तक तो प्रकाशित होने वाला नहीं है ये तमेव भांतम तस्य भाषा सर्विदम विभादी ये सब कुछ उसी प्रकार से ही भाषित हो रहे हैं कदम कदम ज्योतिषार छत है लतस्त्र तस्मिन स्वाप्त भूदे ब्रह्मणी सर्वाभाषको भी सूर्यो न भाती तो सर्वात्त ब्रह्म तत्व में सकल जगत को प्रकाशित करने वाला सूर्य भी का भी वाप नहीं है सूर्य उसे प्रकाशित नहीं कर सकता तद ब्रह्म न प्रकाशित व्यर्थ कहने का मतलब यह सूर्य उस को प्रकाशित नहीं कर सकता सारी तस्वीर भाषा क्योंकि जो है वह उसी का भाष के आधार पर सर्वमन्यत अनात्म जातम प्रकाशित ऐसा सूर्य वह जो सूर्य है तस्वीर उस ब्रह्म का ही भाषा प्रकाश को लेकर के सर्वमान्य अनात्म जातम जो कुछ भी अनात्मभूत वस्तु है उन सबको प्रकाशित कर रहा है न तो तस्व स्वतः प्रकाशन सामर्थ्यम सूर्य अपने आप में प्रकाशन करने का सामर्थ्य वाला नहीं है जैसे बुद्धि अपने आप में जड़ है तो प्रकाशित नहीं कर सकती ये सूर्य आदि उसी प्रकार से जड़ है वे अपने आप जो है प्रकाश में पदार्थ नहीं है कि वो उस प्रकाश रूप होकर के जद वो प्रकाशन कर सके और जो आत्मा का ही प्रकाश के कारण से वो प्रकाशमान हो रहे हैं आत्मा का प्रकाश तो हमारे अंदर भी हम सूर्य के जैसे क्यों नहीं चमक रहे है ये तो अपनी अपनी उपाधि की महिमा क्या करें उपाधि वाला मामला बन जाता है ना फिर जैसी उपाधि वैसी और खड़े हो गए ब्लैक बोर्ड के सामने और कहो अरे कैसा है मेरा चेहरा नहीं दिखाता है अरे भाई तुम्हारे चेहरा कैसे दिखाए वो तो ब्लैक बोर्ड है दर्पण थोड़े दर्पण में तो दिखाई देगा उसमें तो नहीं दिखाई देगा काला कांच के सामने खड़े हो जाओ तो ये तो ये हाल होगा वहां भी कैसे दिखाई देगा वहां कि दिखने का पीछे उपाधि में जो आवश्यकता है वो नहीं है ना तो उसी प्रकार से हमारी उपाधियों के भेद के कारण से अलग अलग उपाधियों में वह चैतन्य का विशिष्ट जो प्रकाश है जिसके मायने सकल व्यवहार होता है वह विशिष्ट प्रकाश में तो हो जाता है सामान्य प्रकाश तो सर्वत्र व्यापक वह एक है और अद्वितीय है उससे कोई अंतर नहीं है लेकिन उस सामान्य प्रकाश जो विशिष्ट प्रकाश रूपेण बुद्धि रूप उपाधियों में ग्रहण होता है तो उपाधियों का भेद की महिमा से उसके सामर्थ्य की न्यूनाधिकता के कारण से उसके सामर्थ्य की न्यूनाधिकता कहां से आई स्वागत वासना रूपी मल की न्यून अधिकता के कारण जिसमें अधिक से अधिक मल है तो समझ में कहा से आएगा जितना भी वेदांत पड़ा फिर पढ़े बोले मेरे भैंस कहा गया अरे भाई तुम्हारी भैंस की बात कहाँ से घुसा दिया तुमने कभी मेरे को याद आ गई अरे तो वेदांत सुन रहा था अरे अने तो बेकल वेदांत नहीं महात्मा की सेवा बहुत किया चतुर्मास में ग्वालपाल ने तो ग्वालपाल ने कहा कि भाई महाराज आपने बहुत सेवा हमें जितना अपने अकल से कर सकता हूँ किया हूँ कुछ तो कृपा कर दो आशीर्वाद दे दो ठीक है महादेव आपको क्या आशीर्वाद चाहिए कहते बस हमको ऐसा करो जैसे आप बैठे रहते ना बड़े सब ऐसे हमको कर दो हमें ऐसे बैठना चाहते उन्होंने सोचा है मूर्ख कहा बैठ पाएगा इसके ताकत तो, तो है ही नहीं इसके तो चलो क्या करें अब चार महीना सेवा के लिए अब मांगा वाचना न दे फिर साधु किस बात का ढूंगी हो जाएगा तो क्या करें बड़ा धर्म संकट उन्हें चलो कोई बात नहीं बैठ जाओ उसको बिठाए हाथ रख दिया सर पे और लगा दिए और वो एकदम उसको खिचड़ी मुद्रा लग गया और ध्यानस्थ हो बड़ा गाँव वाले देखो शाम हो गया है न गाय न भैंस लौटे न आदमी लोग आए बेचारे देखे कहा गया है और ढूंढते फिर गया तो कुटिया तो वो बाबा गाय बाबा तो है बाबा तो चलेगा आशीर्वाद देख करके अब उसको जगा रहे तो जगह ही नहीं हो है जड़ समाज रखा हुआ है उसको बेचारे को तो करे क्या उठा करके किसी तरह से ले गए और गाय जो अपने आप लौट गए थे बाकी भटक रही थी उन सबको इकट्ठा करके चले गए और गांव में अब क्या करे उसको न उठता है न बोलता है न चालता है न सुनता है न खाता है न पीता है न हगता है न पिछाब न टट्टी न कुछ नहीं पड़ा है मस्त एक साल दो साल करेंगे लोग उसको नहला देते थे कपड़ा पोछते थे कपड़ा पहना देते थे भाई मेंटेन तो करना है इधर तरह जिंदा तो मरा तो नहीं मरा भी नहीं जिंदा क्या कर मूर्ति जैसे उसको संभालते रहे दो तीन साल के बाद महात्मा जी को याद आया अरे देखो तो वो देवता क्या कर रहा है कैसे है वो तो लौटते लौटते वो गाँव को आए पहले गाँव गए तो सबसे पकड़ लिया ले रहे बाबा क्या कर दिया आपने देखो हमारे बालक कैसे पड़ा हुआ तीन साल हो गया अच्छा तो देखा तो वैसे वैसे बैठा तो समझ गए अब खेचर मुद्रा से अमृतपान कर रहा है इसको तो भाई कहो सी ही नहीं अब उन्होंने वापस उसको उतारा हाथ रख करके जैसे उतार के आंख खोला कहते गाय कहा गई लाठी कहा अरे इतने तीन साल तुम तो आत्मानंद में रहा और आत्मा क्यों मैं बाहर ये नहीं सोच रहा अरे वो आनंद का टूट के खराब हो गया उसके बाद दुखी नहीं है वो, वो बात याद है उसको बहन से लाठी क्या करे वासना उपाधि को समय प्रकार से शोधन करके वहां तक पहुंचाया नहीं तो क्या करें सीधे किसी राष्ट्रपति तो अखल तो है नहीं उसे क्या करना क्या नहीं करना जैसे अपने वर्तमान का यही हालत है नहीं साइंटिस्ट था तो उसको क्या मालूम राजनीति क्या देश भेद क्या पता है कानून कानून अब बना दिया उसको मूल्य को अब समस्या खड़ा हो गया देश के साथ भारी समस्या हो गई और उसको पढ़ाया जा रहा है आवाज आगे बीसीडी पड़ पटरा पॉलिटिक्स की क्या करेगा चेंज वही हाल हम लोग का है सीधे प्रमुख ज्ञान के चक्कर में हम लोग लगे हुए हैं और न साधना किए न उपाधि का शोधन हुआ न कुछ हुआ है और यू आर ब्रह्म बोल गया इट्स ओके फिनिश हो गया क्या है सब समझ में नहीं आता तो इसलिए कहा था कि देखो बस सूर्य भी उसे प्रकाशित नहीं कर सकता सहित न तो तस् स्वतः प्रकाशन सामर्थ्य समझते ये स्वतः प्रकाशन का सामर्थ्य उसमें नहीं है तथा न चंद्रतार इसी प्रकार से चंद्रतार भी न इमा विद्युत भांति इवा इमा विद्युत कुतोयम अग्नि अस्मत गोचर जो हम लोग इंद्रियों का विषय अग्नि फिर उसे कैसे प्रकाशित कर सकते चिन्ह बहुना और अधिक क्या कहूं मैं ये जगत भाती वह यह जो जगत हमें भाषित हो रहा है तत्तमेव परमेश्वरम सुतो भारतम दीप्यमानम अनुभाग्य अनुदीप्य वह जो कुछ जगत हमें भाषित हो रहा है वो वास्तव उसी परमेश्वर जो स्वतंत्र भारूप है उसके भान होने पर ही उसके दीप्त होने पर भी ये सब के सब दीप्त होते हैं भाषित हो रहे हैं यथा जड़ोन्मुखारी अग्नि संयोगात अग्निम ग्रहणतम अनुग्रह थी न जैसे गर्म जल आपको जला दिया अरे गर्म जल कैसे चलाएगा अरे जल के अग्नि के जलाने पर आप उस अग्नि वाला जल को चलाया करके व्यवहार कर देते अग्नि विशिष्ट जल ही तो जलाया ना और अग्नि के जलाए बिना केवल जल कैसे जला देगा वो अग्नि के जलाने पर ही अग्नि विशिष्ट जो जल और जलाया ऐसा व्यवहार हो जाता है केवल चलने से कभी जला नहीं सकता ठीक उन्मुख भी ऐसे केवल लकड़ी आपको चला नहीं सकता सर पर लाद के लाते कैसे जंगल से आप लेकिन वही लकड़ी जब जलता हुआ रहेगा उस अग्नि के जला कभी लकड़ी से जल गया लकड़ी से कैसे जला अग्नि के जलाए जाने पर उस अग्नि विशिष्ट लकड़ी ने जलाया है तो आप व्यवहार कर देते हैं लकड़ी जलाया व्यवहार ऐसा हो जाता है ये भ्रांति लेकिन विनाश अग्नि तत्व जो दाहक तत्व जब तक उस जल या लकड़ी में न होता विशिष्ट रूपे तब तक वह जल या लकड़ी आपको जला नहीं सकता इसी प्रकार जब तक वह प्रकाश रूप तत्व जो है भारूप तत्व इस जगत में ना हो तो ये जगत प्रकाशित हो ही नहीं सकता उसके प्रकाशित होने पर भी यही सब प्रकाशित और व्यवहार हम कर रहे सूर्य से हमने देख लिया टार्च से हमने देख लिया लाइट से हमने देख लिया किसी से तुम देख नहीं सकते यदि वह नहीं है तो यथा जलोमुकारी अग्नि संयोगात अग्निम अंतम देव अनुदहती न तत् ठीक उसी प्रकार तसेव आती उसी के प्रकाश से इधम सूर्य जगत बात सूर्य जगत उसी के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है इसलिए वहां शुरू ही सूर्य से किया ना सूर्य जागृत अवस्था को पूछा गुरु ने चेड़ा को पूरा वेदांत पढ़ाने के बाद चेड़े से यही पूछा गुरु ने किम ज्योतिष तो भानुमान हनी में कहते तुम्हारे जो हनी ज्योति हृदय में हनुमान मेरे लिए तो सूर्य ही प्रकाश यही लोग व्यवहार के हिसाब से सही बोल रहा है जागृत अवस्था में सूर्य प्रकाश पर क्रम सब व्यवहार कर रहे रात्र पूजा प्रजापित प्रदीपादिगम दीपक ठीक है रात्र में दीपक आदियों से तुम अनुभव कर ले रहे हो इसे कोई संशय नहीं लेकिन ये तीनों रात जो सेंद्रीय व्यवहार है इनके लिए सूर्यालय दीपकालियों से तुमने व्यवहार पर कर लिया लेकिन जब कोई नहीं रहेंगे तब क्या अथवा इन सब से मैंने जगत का अनुभव कर रहा हूं ये कैसे तुमने जाना सदेव रविदीप दर्शन विधौ किंजोतिराख्या में सदेवम इन रवि दीप दर्शन विदो मैं सूर्य की सहायता से पुस्तक पढ़ रहा हूँ ये दीपक की सहायता से मेरा अमुक व्यवहार किया ये तुमने कैसे जाना तब तो उसने कहा आंख से मेरी आंख से मैं देख रहा हूँ भाई ये सूर्य है उसका प्रकाश आ रहा है उससे मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ चक्षुष अरे ठीक है मान लो चक्षु भी नहीं रह गया तब क्या होगा स्वप्न में कहा क्या करोगे न सूर्य है न दीपक है न चक्षु है तस् निमीरनादि समय थी बुद्धि से कर लेता हूं ना सब मन कल्पना करे जा रहा है और बुद्धि उसको प्रकाशन कर रही है अच्छा दियो दर्शन किम बुद्धि का दर्शन है बुद्धि प्रकाशन कर रही थी तो वो कैसे पता चलेगा उसको तो कोई देख रहा है तभी तो तुमने कहा मैं बुद्धि से मन के द्वारा रचा हुआ पदार्थों को देख रहा था स्वप्न में तुमने जाना ना इस बात को कि मैं बुद्धि से देख रहा हूं समस्या ये होगी अगर बुद्धि को कौन देख रहा था उसमें कहा से प्रकाश आया आपको हार गया तत्र परम कंजोति कहता और कौन रह गया वो बुद्धि भी नहीं रह जाए उस बुद्धि को भी देखने वाला उस बुद्धि को भी अनुभूति सुशुक्ति का आनंद अनुभूति का जो रिकॉर्डिंग करने वाला कौन था वहां नहीं वही परम ज्योति है तदस्मित प्रभो उसी को लेकर कह रहे हैं देखो सूर्य तस्व भाषा उसी के प्रकाश से दीप्ति से सर्व इदम सूर्यादि जगत विभाति ये सूर्य संपूर्ण जगत उसी से भाषित हो रहा है यद एवं जिसलिए ऐसा है तदेव ब्रह्म भाति चे भाति इसलिए वाक्य में क्या है वही ब्रह्म भाषित हो रहा है सामान्य रूप न और वही ब्रह्म ये सूर्यादि विशेष रूपेण भी भाषित हो रहा है इनके सब जड़े भाषित कौन हो रहा है सामान्य रूपेण भी वही है विशेष रूपेण भी वही है जैसे आप देखते हो आजकल के साइन बोर्डों में देखिए आजकल विशेष साइन बोर्ड आ गए लाइट वाले पूरी लाइट ही लाइट होता है ग्लास से पतरा आकर होता है स्टार दे दिया तो एक सामान्य लाइट भी है आ? आपने जहां आपने जो रंग रंग चढ़ा रखा है उसे विशेष प्रकाश में तो सामान्य प्रकाश और विशिष्ट प्रकाश दोनों कौन है वही है कोई दूसरा क्या नहीं तो इसीलिए इसी प्रक्रिया पर वास्तव में यही ब्रह्म सामान्य प्रकाश है और सूर्यात विशिष्ट प्रकाश भी वही है उसके प्रकाश अलग दूसरा प्रकाश ही नहीं कहने का तात्पर्य जो कुछ सामान्य भार है